ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्म निराकुर्या मा द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र तक कुछ विचार हुआ जिसमें मधु विद्या के विषय में चर्चा है असौगा आदित्य मधु यहाँ से आरंभ हुआ था ये जो ऊपर दिखाई पड़ता है जो आदित्य है देवताओं का मधु है उसके बांस के स्थान में देव देवरेव तिरस्सीन वंश ऐसा कहा था और अंतरिक्षम अपूप जो मधु का छत्ता है वो अंतरिक्ष है मरीचय पुत्र और वो छत्ते के भीतर में जो बच्चे सूर्य के किरण है वही उसके संतान मैंने बीज मधुमक्खी बनाने के बीज है ऐसा कहा उसके बाद कहा उसके जो पूर्व दिशावर्ती किरणें हैं सूर्य के वह मधु छिद्र है नाड़ी है मधु नाड़ी मधु के छिद्र है ऐसा कहा था और मधु बनाने वाले ऋग्वेद मधुकर है मधु बनाने वाले मधुमक्खी के सामने ऋग्वेद है ऋग्वेद विहित कर्म पुष्प स्थान में है वहां से रस लेना है उन्होंने और वो रस क्या है तो जो यज्ञ में आहुति डाली गई जो मानी चरु आदि का जो सुंदर बाष्प है आप जल है अब इसके आगे कहते हैं तावा यथा ऋच यहां तक हो गया था ये ऋग्वेद ने क्या काम किया तो जो ऋचा स्त्रीलिंग है ऋच शब्द इसलिए तावा तावई यथा ऋच कहा आगे मंत्र है एतम ऋग्वेदम अपतपन तस्तप्त यशस्तेज इंद्रिय रसो जायत एतम ऋग्वेदम अप्यतपन तस्तप्त यशस्तेज इंद्रिय वीर्यम अन्नाद्यम रसो जायत दावा एता ऋच पूर्व पूर्व में पूर्व मंत्र से संबंधित वो ऋग्वेद ने एक काम किया वो ऋग्वेद तावई एता ऋच ये ऋग्वेद ऋच शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए एता बोला स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है ठीक शब्द तावा तावई यथा ऋच ये जो ऋग्वेद है इन्होंने एतम ऋग्वेदम अब इस ऋग्वेद को तपाया मैंने ऋग्वेद विहित कर्म को तपाया एतम ऋग्वेदम में ऋग्वेद विहित कर्म एतम ऋग्वेदम अभित ऋग्वेद ने काम किया ऋग्वेद विहित कर्म को तपाया तस्य अभी तप तस्य जब वो तप गया ऋग्वेद विहित कर्म उससे ये निकल आए क्या निकले रस निकल आया क्या रस आया यशस तेज इंद्रियम वीरियम अन्नाद्यम रस हो जाएगा जब ऋग्वेद विहित कर्म तब गए तो उसके ये सब आ गए यश लोक विस्तृति को यश बोलते हैं ख्याति अच्छा। तेज शरीर का तो दीप्ति कांति इंद्रिय में सामर्थ्य वीर शरीरगत सामर्थ्य और अन्नाद्यम अन्न भी हो आद्य भी खाने योग्य अन्न हो ऐसा रस उत्पन्न हो गया ऐसा कहा भाष्य में कहते हैं एतम ऋग्वेद विहितम कर्म पुष्प स्थानीय ऋग्वेद विहित कर्म पुष्प के स्थान में है और ऋग्वेद मधुकर के स्थान में है यदि मधुमक्खी जा करके पुष्प से पराग लेती है रस लेती है उसी प्रकार ऋग्वेद ने काम किया ये तम ऋग्वेद भीतम कर्म ये जो ऋग्वेद कर्म पुष्प स्थानीय है पुष्प के स्थान में है अभ्य तपन ऋग्वेद ने इनको तपाया मैंने अभितापम कृतवत्य अभिताप किराया इनको ऋच कृतवत्य मैंने अभिताप कराया जैसा वास्तव में अभिताप नहीं कराया हाँ, आग लगा के अभिताप तो नहीं करा शेकाई नहीं की शेकाई जैसा किया ऋग्वेद ने कर्म को ये तो ऋज कर्मणि प्रयुक्त यही ऋग्वेद ने काम किया क्या कर्म में प्रयुक्त ऋग मंत्रों ने काम किया जो ऋग्वेद विहित कर्म में जो प्रयुक्त हुए मंत्र उन मंत्रों में ऋग्वेद विहित कर्मों को तपाया जैसा किया ऋग्भीर ही मंत्र ही शस्त्रादि अंग भागम भूगत क्रियमाण कर्म मधु निर्वर्तकम रसम मुंचती इति दे पुष्पाणी व भ्रमरे आचुष्यमाणी कहते हैं ऋग्वेद के मंत्र जो है ऋग्वेद ही मंत्र ही जो ऋग मंत्र है ऋग्वेद के मंत्र हैं इनके द्वारा शस्त्रादि अंग भावों को जो अप्रगीत प्रधान जो ऋग्वेद है जागा करके नहीं बोला जाता उसको शस्त्र बोलते हैं ऋग्वेद ऐसे ऋग्वेद के द्वारा शस्त्र भाव को प्राप्त हुए ऋग्वेद है उनके द्वारा क्रियमाण कर्म ऋग्वेद के द्वारा किया गया जो कर्म है वह मधु निर्वर्तकम मधु का संपादक होते हैं कर्म मधु बनाने वाले होते हैं कर्म मधु निर्वर्तकम मधु क्या है तो ये यश तेज आदि जो ये रस है ये रस निकालना है निर्वर्तकम रसम ऐसा मधु को संपादन करने वाला रस वो कर्म रस को रसम मुंचती हाँ, वो कर्म मधु संपादन करने वाला रस को छोड़ते हैं एक ऋग्वेद द्वारा किया गया जो कर्म है ऋग मंत्र के द्वारा किया गया कर्म मधु संपादित करने वाला रस को छोड़ते हैं यदि उपपद्यते पुष्पाणी व तो भ्रमरी आचुष्यमान जैसे ये ठीक हो जाता है जैसे पुष्पों का भ्रमर के द्वारा चूसा गया माने मधु मधुमक्खी के द्वारा चूसा गया जो पुष्प है वो रस छोड़ते हैं ठीक इस प्रकार कर्म ने रस को छोड़ा मधु संपादन कर रस को छोड़ा ये कहते हैं तदेत आह इसी बात को कहते हैं तस्य ऋग्वेद से अभितप्त जो ऋग्वेद भेद कर्म जो अभितप्त हो गया तब कहते हैं तदेतर अभितप्त इत्यादि बातें आई तस्य अभितप्त कोशव प्रश्न वह कौन है वो रस कहते हैं कोशव रस वो रस कौन है तो कहते हैं यह रिंग मधुकराभिताप निश्चित उच्चते प्रश्न हुआ कौन वो रस है जो ऋग रूपी मधुकर है ऋग्वेद रूपी मधुकर के अभिताप के द्वारा निकले हुए जो रस वो रस कौन है ये प्रश्न आया तो उच्च तो उत्तर देते हैं यश एक तो यश है जगत में कीर्ति ख्याति यश है विस्तृतत्व लोक में विस्तृत है ख्याति है सभी मानते हैं जिसको तेजो देहगता दीप्ति ही तेज माने यहाँ पर शरीरगत कांति है सौंदर्य शरीर का सौंदर्य और इंद्रियम माने सामर्थ्य पेत इंद्रिय अभय कल्यम यह है इंद्रियम का अर्थ करना शक्ति विशिष्ट इंद्रिय होनी चाहिए के तो इंद्रिय अवैकल्यम इंद्रिय में विकलता नहीं मानी ऐसी और वीरियम माने सामर्थ्य बलम शारीरिक शक्ति बल वीर्य का अर्थ और अन्नाद्यम अन्नम च तदाद्यम च खाने योग्य हो हाँ और अन्न हो खाने योग्य हो ऐसा अन्न ये न उपयुज्यमान अहनी अहनी देवान स्थिति जिसके उपभोग के द्वारा प्रतिदिन देवता वसु आदि देवताओं की स्थिति होगी जहन्न को खाने से मधु आदि के द्वारा अच्छा, तद अन्नाद्यम वही अन्नाद्य ये रसो अजायता ये रस उत्पन्न हुआ यागादि लक्षणात् कर्म ऋग्वेद विहित कर्म यागादि कर्म थे उन कर्मों से ऐसा ही रस पैदा हुआ एक टीका में कहते हैं कथम पुनर्मंत्राणाम पुष्प पुष्पस्थानीय ऋग्वेद विहितम कर्म अभितप्त पताम फलवत्व यदि आशंका प्रश्न उठेगा मंत्र जो है मंत्राणाम भ्रमर स्थान है मधुबक्खी के स्थान में मंत्र को बनाया हुआ है ऋग्वेदिक मंत्र को मधुबक्खी के स्थान में रखा भ्रमर बने मधुबक्खी यहाँ कथम पुनर्मंत्राणाम भ्रमर स्थान या नाम जो भ्रमर के स्थान में है मंत्र यहाँ पुष्प स्थान या ऋग्वेद विधम कर्म मधुमक्खी तो उसको तपाते हैं ठीक है प्राणी है वो मंत्र तो प्राणी नहीं है तो कैसे वो पुष्प स्थानीय जो ऋग्वेद विध कर्म को कैसे तपाया उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों ने ऋग्वेद विहित कर्मों को कैसे अभिताप किया मधु बनाने के लिए रस को ताप ताप करना पड़े शेक लगाना पड़े तब होगा नहीं तो मधु बनेगा नहीं पहले तो तरल था रस था मधु दे अभिताप होता है तो ताप कैसे किया कैसे फलशाली होगा संघ आगे तो कहा एता ऋचह इत्यादि मंत्र कहा था एता कर्म नहीं प्रयुक्त जो कर्म में प्रयुक्त ऋग्वेद है ना ऋग्वेद भी कर्मों में प्रयुक्त जो ऋग्वेद है वो ऐसा क्या होता है उसी का अर्थ किया ऋग्भीर ही मंत्र ही शस्त्रादि अंग भावों को गई जो अप्रगित प्रधान होते हैं ज्ञागा करके न बोला जाए जो ऋग मंत्र उसको शस्त्र बोलते हैं शस्त्रादि भाव को प्राप्त हुई जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनके द्वारा क्रियमाण जो कर्म किया जाने वाला जो कर्म है मधु निर्वर्तकम रसम मुंचती वो कर्म हाँ, मधु संपादित करने वाले रस को छोड़ता है ये कहा जैसे पुष्पाणी भ्रमरे आचुष्यमानी जैसे पुष्प मधुमक्खी के द्वारा चूसा गया पुष्प रस छोड़ते हैं उसी प्रकार वो कर्म रस छोड़ते हैं इत्यादि कहा ठीक है कहते हैं तासाम कर्मणि प्रयुक्त भी किम आता तासाम ऋग ऋमंत्राणाम जो ऋग शब्द ऋग शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है इसलिए तासाम ऋग्वेद है उनका कर्मणि प्रयुक्त कर्म प्रयुक्त हो गए होने पर भी कि क्या निष्पन्न हुआ तो कहा ऋग्भीर इत्यादि मंत्रों से कहा था <clears throat> ऋग्भीर ही मंत्र ही शस्त्रादि अंग भावों को गतई क्रियमाण कर्म मधु निर्वर्तन संबंधति इत्यादि कहा अभी तप्त से रसो आ जाए था जब वो तप्त हो गया शेक मिल गया उसको ऋग मंत्रों के द्वारा शेक मिलने पर क्या हुआ तो कहते रस पैदा हो गया उसमें तम प्रश्न पूर्वक विषय कोशौ इत्यादि प्रश्न हुआ कोशौ रसो कौन रस है वो यह ऋग मधुकर अभिताप जो ऋग्वेद रूपी मधुकर के अभिताप से निकला हुआ शिकाई से निकला हुआ रस कौन रस है तो कहा ये रस है यश है हाँ, तेज है इंद्रिय है वीर है दे ये रस निकले ये कहा आगे मंत्र है तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितो आश्रयत तद वही तद यदे तद आदित्य से रोहितम रूपम तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितो आश्रयत तद ये तद यदे तद आदित्य से रोहितम रूपम तद व्यक्षरत वो विशेष रूप से क्षरित हो गया चला गया निकल गया और रस बह गया तद रसा तद रसा वो जो रस है यशादि यशादि जो रस था यशादि निकले रस यश है तेज है इंद्रिय वीर्य अन्नाद्य जो रस है वो रस पैदा हुआ तद रसम वो जो रस है वो रस व्यक्षर विशेषण अक्षर व्यक्षर विशेष रूप से निकल पड़ा वहां से बहने लगा तद आदित्यम अभी तो अस्तित्व वो रस है जो रस रस शब्द नपुंसक है इसलिए तत् तत् करके बोल रहे हैं आदित्यम तो आश्रय आदित्य के पार्श्व भाग माने पूर्व पूर्व दिशा की तरफ जाकर के बैठ गया आदित्य के जो पूर्व दिशा की तरफ का रस है वो उस तरफ जाकर बैठ गया तदवई ए तद यदि तद आदित्य रोहित वो रस कौन है आदित्य में जो लाल लाल रूप दिखाई पड़ता है प्रातकाल रक्त रूप रक्त वर्ण दिखाई पड़ता है वही रस है तदे तत् वही यह तद आदित्य से जो आदित्य के रोहितम रूप जो रोहित रूप है रक्त रूप है आदित्य में वही है अच्छा है हमें कहते हैं तत् शब्दार्थम आप हाँ, तद व्यक्षरत कहा था वह तत्शब्द शब्द से क्या लेंगे तब कहा यश आदि अन्नम यश आदि अन्न पर्यंत यश से लेकर के अन्न तक तत् शब्द से लेना जो रस है वो यशस तेज इंद्रिय वीरियम अन्नाद्य में जो कहा था यही है तत्परकार ने कहा भाषा अच्छा। में कहते यश आदि अन्न पर्यतम तद अक्षरत विशेषण अक्षरत अगमत ये कहा वो वो यशादि यश से लेकर के अन्न अन्नाद्य तक जो रस बताया था वो रस तद व्यक्षरत माने विशेषण अक्षरत विशेष रूप से बाहर चल पड़ा वो रस चल दिया अच्छा। अक्षर ना अगमगत चला गया चला कहा गया कहता गत्वाच तद आदित्यम अविता पार्श्वत पूर्व भागम सवितुर आश्रया आश्रय आश्रित वत इत्यर्थ कहा गत्वाच जब चल पड़ा तो कहा गया जाकर के वो रस जो यश से लेकर के अन्नाद्य तक जो रस था वो रस आदित्यम अभिता आदित्य को पार्श्व एक तरफ से एक पार्श्व में एक तरफ पूर्व भागम आदित्य के पूर्व भाग में सवितुर आश्रय सविता के पूर्व भाग में आश्रय लिया मैंने आश्रितवत आश्रित कहा था आश्रितवत कहा अमुष्मिन आदित्य संचितम कर्म फलाख्यम मधु महे इतम ही ऐसा आदि लक्षण फल प्राप्त है कर्माणी क्रियते मनुष्य ही कहते हैं मनुष्यों के द्वारा कर्म किया जाता है क्यों किया जाता है ये ऐसा आदि प्राप्ति के लिए यश है तेज है इंद्रिया वीर अन्नाद्य प्राप्ति के लिए ये कहते हैं अमुष्मिन आदित्य उस आदित्य में संचितम कर्म फलाख्यम हम यह कर्म करेंगे आदित्य में संचित होकर के बैठेगा हम्म। संचित हम कर्म फला के कर्म का फल जो संचित कर्म हुआ एकत्रित हुआ फल है मधु वही मधु होता है में उसी मधु को हम खा भोग करेंगे इतम ही इस प्रकार समझकर ही यश आदि लक्षण फल प्राप्त है कर्माणी क्रियंत मनुष्य का यश आदि फल प्राप्ति के लिए मनुष्य के द्वारा कर्म किए जाते हैं जैसे कैसे तो दृष्टांत देते हैं केदार निष्पादन भी वो कर सके जैसे खेत कृषक होता कर्षक होता है किसान जो होता है हाँ। मान खेत को ठीक ठाक करता है किसके लिए अन्न आदि फल लेने के लिए केदार निष्पादन में कर सके जैसे किसान के द्वारा खेत की सफाई करनी होती है किसके लिए करते हैं कर अन्न प्राप्ति के लिए ठीक इसी प्रकार यहाँ यजमान जो कर्म करता है किसके लिए उस आदित्य में मधुरूप कर्म फल है वहां जाके भोगेंगे क्या है यश है तेज है इंद्रिय है वीर है अन्नाद्य है ये फल भोगेंगे इसको लेकर के कर्म करते हैं तत्प्रत्यक्षम प्रदर्शते श्रद्धा हेतु तलवा तदवा हेतु इसी बात को प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाता है श्रद्धा के कारण तदवई एतत इत्यादि बातों से कहा तदवई एतत यदे तद आदित्य से रोहितम फल क्या है वहां ये यशादि का पुंज क्या है आदित्य में जो रक्त रूप है रक्त वर्ण है प्रातकालीन रक्त वर्ण है ये कहा किम भाष्य में कहते हैं किमत तद यदि तद आदित्य से उद्यतो दृश्यते रोहितम रोहित जो उगते हैं सूर्य उदय काल में हाँ, उदय होते हुए आदित्य में रोहित रूप दिखाई पड़ता है वही यश तेज इंद्रिय वीर अन्नाद्य सब वही है ऐसा बताया टीका में कहते हैं अथा अनुष्ठित कर्म जनितम फलम कथम आदित्य में थी इतिहास या अनुष्ठान जन्य जो कर्म का फल होगा यज्ञ आदि करेगा यजमान तो अनुष्ठित कर्म जनितम फलम जो अनुष्ठान जनित जो कर्म का अनुष्ठान से उत्पन्न कर्म का जो फल है वो फल आदित्य में कैसे पहुंचेगा प्रश्न आया तो कहा अमुस्मिन यजमान के मन में यही होता है भावना अमुस्मिन आदित्य संचितम कर्म फलाख्यम मधु भोक्ष्याम है उस आदित्य में संचित जो कर्म का फल है उसको हम वो मधु है उसको हम भोग करेंगे ये सोच करके कर्म किया जाता है यजमान के द्वारा जैसे फल भोगने की इच्छा से पहले किसान जमीन को सफाई करता है यदार निष्पादन में कर सके ये कहा टीका में जाते हैं दृष्टांत दृष्टांत दिया है केदार निष्पादन में कर सके दृष्टांत है जैसे खेत की सफाई किया जाता है किसान के द्वारा किसके लिए अनाज आदि फल भोगने के लिए ठीक इसी प्रकार कर्म किया जाता है यहाँ किसान कर्म करता है फल के लिए इसी प्रकार यहाँ भी यज्ञादि कर्म किया जाता है कब उस आदित्य में जब पहुंच करके वो आदित्य भाव को होकर के यश आदि प्राप्त करेंगे इसके लिए ये कहा दृष्टांत दृष्टांत जो केदार निष्पादन में कर सकी है उसे भोक्ष्या बहे किसान भी समझता हम भोग करेंगे अनाज घर में आएगा खाएंगे पिएंगे सोचकर भोक्ष्या बहे गृह आदि जनितम फलम दान आदि जनिक जो फल है वो खाएंगे इति अभिप्रायण ब्रियादि प्राप्ति हमेशा ब्रियादि प्राप्ति के लिए खेत की सफाई करता है किसान ठीक इसी प्रकार उस आदित्य भाव को प्राप्त होना है इसके लिए वैदिक कर्म करते हैं लोग एक क्यों तद कर्म फलम यदि आदित्य में आश्रित तिष्ठती वो कर्म का फल क्या है जो आदित्य में आश्रित होकर के रहता है वो कर्म का फल क्या है फल ये समझा है तो तत्प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दिखा दे तत्प्रत्यक्ष प्रदर्शित है श्रद्धा है तो श्रद्धा के कारण उसको प्रत्यक्ष दिखाते हैं क्या प्रत्यक्ष दिखाया तदवई एतद तदवई एतद यदेतद आदित्य से रोहितम रूपम प्रत्यक्ष वही यह प्रत्यक्ष करके दिखा रहे ठीक है मैं कहा कर्म फले प्रत्यक्ष कर्म का फल प्रत्यक्ष है तत्साधने कर्मणि कर्मिणाम श्रद्धा सिद्धार्थम इतिहास श्रद्धा हेतु का अर्थ कर्मफल प्रत्यक्ष है मधु इसलिए तत्साधने कर्मणि कर्म के साधन जो कर्म होगा कर्मीणाम श्रद्धा सिद्ध्यर्थम इतिहास श्रद्धा हेतु तो कहा था कर्मियों के श्रद्धा सिद्धि के लिए सारी बातें बताई तदेव फलम प्रश्न पूर्वक विसर्जती वही फल जो होगा वही प्रश्न पूर्वक विस्तार करते हैं किम इत्यादि प्रश्न हुआ किम तद तो उत्तर देते हैं यद एतद आदित्य से उद्यतो उद्यतो रोहित दृश्यते रोहितम रूपम आदित्य जो उदय कालीन आदित्य में जो रक्त वर्ण दिखाई पड़ता है वो फल है वो मधु हम्म। यही मधु है पूर्व दिशा संबंधित अभी यही कहा आगे मंत्र है अदयेश दक्षिणारस्मय अस्य दक्षिणा मधुनाड्यो यजुंशी एव मधुकृतो यजुर्वेद पुष्पम तामृतापः अत एयस्य दक्षिणारश्मयः तायेवास्य दक्षिणा मधुनाड्यो यजुंषि एव मधुकृतो यजुर्वेदैव पुष्पम् तामृता आपः तानि वा एतानि तस्वितप्त यशस्तेज इंद्रिय वीर्य अन्नाद्यम रसो अजात तानि वाये तानि यजुंसी एक यजुर्वेदम अभ्यतपन तस्वितप्त यशस्तेज इंद्रिय वीर्य अन्नाद्यम रसो अजात तदक्षरत तद आदित्यम अवितो अश्रयत तदवा तदवा ये तद ये तद आदित्य से शुक्लम रूपम तद व्यक्षरत तद्यक्षरत्व तद आदित्यम अभितो आश्रयत्व तदवा ये तद यदे तद आदित्य से शुक्लम रूपम अथ ये अश्य दक्षिणा रश्मय आदित्य में जो दक्षिण की तरफ गई हुई रश्मिया किरण है दक्षिण दिशा की तरफ गई हुई किरण है ताएव अश्य दक्षिणा मतदाज्यो यही बाकी वो तो समान है पहले देवरेव तिरस्न वंश सबके लिए समान है और अंतरिक्षम अपूपा वो भी समान है तो मरीचा या पुत्रा वो भी समान है हाँ, मधुनाड़ी से आरंभ कर रहे हैं अतः यह अस्य दक्षिणारस में दक्षिण दिशागत सूर्य की किरणें हैं तायब अस्य दक्षिणा मधुनाड्य मधु चित्र यही है नाड़ी में चित्र जिसमें मधु भरना है यजुंशी एवं मधुकृता या यजुर्वेद होंगे मधुकर भ्रमर के स्थान में मधुबक्की के स्थान में यजुर शब्द नपुंसक लिंग है यजु यजुषी यजुंशी नपुरुषत्व है यजुंशी एवं मधुकृत मधुकर यही है यजुर्वेद एवं पुष्पम और यजुर्वेद विहित जो कर्म होगा यजुर्वेद शब्द का यजुर्वेद विहित कर्म वो पुष्प स्थान में है और ता ता <clears throat> ता अमृता आप और जो एक में किया हुआ जो आहुति जलित जो जल है वह यही है आपके वहां मधु मधु है वो ये कहा तानी वा तानी यजुंसी अब वो जो यजुर्वेद है क्या काम किया वो यजुर्वेद ने एतम यजुर्वेदम अप्यतपत इस यजुर्वेद विहित कर्म को तपाया यजुर्वेद शब्द कहते कर्म तस्य तप्त से जो कर्म तप गया यजुर्वेद विहित कर्म अभिताप हुआ तस्य उसका यश तेज इंद्रियम वीरियम अन्नाद्यम रसवाज उसमें यही रस निकला है उसका यश माने लोक विस्तृत तत्व यश है तेज है शरीर की छवि है इंद्रियम अवैकल्य इंद्रिय में सामर्थ्य वीर माने शरीर सामर्थ्य अन्नाद्यम जो खाने योग्य अन्न ये रस उत्पन्न हो जाएगा ये रस जब निकला तो क्या हुआ वो रस तद व्यक्षर वो रस निकल जाएगा ये आदि जो रस निकले थे वो रस विशेष रूप से चल पड़ा तद आदित्यम अभी तो आश्रय वो रस आदित्य के एक एक कोने में जाके बैठ गया मतलब दक्षिण भाग में जाके बैठ गया तदवई एतत यदेतत आदित्य से शुक्ल रूप वो रस क्या है आदित्य में क्या दिखाई पड़ता है जो शुक्ल रूप दिखाई पड़ता है माने शुक्ल रूप ऐसे दिखाई नहीं पड़ता शास्त्रों के द्वारा दिखाई पड़ता है ऐसे भाष्यकार आदि बताएंगे ठीक है मैं मध्वंतरम दर्शे एक मधु हो गया लोहित रूप मधु हो गया दूसरा शुक्ल रूप मधु के बारे में चर्चा करते हैं वर्तवंतरम से दूसरे मधु के दिखाते हैं कहा भाष्य में कहते हैं अथा ये अश्य में इत्यादि समान में तो समान है हम्म, दक्षिणारस में दक्षिण दिशा का तथा जो किरण है ता एवं अश्य दक्षिणाम आदि समान है पूर्व जैसे ही है अच्छा यजुंशी है मधुगा हाँ, वहां पर ऋचा एवं मधुकृत था वेद अलग हो गया या यजुंशी मधुकृत ये विशेष बता दिया यानी यजुर्वेद मधुकर के स्थान में है और यजुर्वेद विहित नहीं प्रयुक्त आदि कौन सा यजुर्वेद यजुर्वेद विहित कर्म में प्रयुक्त यजु मंत्र या मधुबकी के स्थान में है कहा पूर्ववन मधुकृत जैसे पूर्व में कहा था मधुकर कौन ऋग्वेद मधुकर कहा था यहां भी ये मधुकर है यजुर्वेद मधु बनाने वाले हैं यजुर्वेद विहितम कर्म पुष्प स्थानीय पुष्पम विधि उच्चते यजुर्वेद विहित कर्म पुष्प के स्थान में है यहाँ जिसे पराग लेना है वो पुष्पक शब्द से कहा गया है अच्छा। ता एव सोमाद्या अमृताप आप ताएव कोई जो जल है कैसा है ता अमृता आप माने जो सोमादि जो एक में हवन किया हुआ जल हाँ, वही जल अमृत आप है माने उसमें रस बनना है जिसका एक कहा टीका से कथम तेसा मधुकृतत्व वक्तव्य विशेषण कथे समान अन्य बोल दिया माने दक्षिण आरस में इत्यादि समानम बोल दिया वक्तव्य विशेष को कर्तन करते हैं उसी यहाँ वक्तव्य विशेष तो अभी इसकी चर्चा ऋग्वेद की चर्चा चल रही है यजुर्वेद करना है वक्तव्य विशेषम कथयती यजुंसी इत्यादि का मधुकृत यजुर्वेद का कथम तेषा मधुकृत यजुर्वेद कैसे मधुकर बनेंगे मधुमक्खी के स्थान काम कैसे करेंगे भूमिका कैसे निभाएंगे प्रश्न आया था पूर्व जैसे वहां ऋग्वेद बने थे पूर्व में पूर्व पर्याय में ऋग्वेद मधुकर बने थे यहाँ यजुर्वेद बन जाएंगे ये कहा ऋग मंत्राणाम ऋग्वेद विहित कर्मणि प्रयुक्तानाम यथा पूर्वम मधुकरत्व उत्तम तथा युषाम भी यही पूर्ववत का अर्थ कर दिया जैसे ऋग मंत्र है ऋग्वेद मंत्र है ऋग्वेद विहित कर्म में प्रयुक्त मंत्र ऋग्वेद विहित कर्म में जो प्रयोग किए गए मंत्र हैं ऋग्वेद मंत्र यथा पूर्वम मधुकर तो उनको जैसे मधुकर कहा था पहले पहले पर्याय में प्रथम पर्याय में तथा तो में वैसे यजुर्वेद भी यजुर्वेद विहित कर्म में मधुकर है यहाँ ये बता दिया यजुर्वेद विहित कर्मणी पुष्प दृष्टि में आचष्टे यजुर्वेद विहित कर्म में पुष्प दृष्टि का कथन करते हैं कर्म पुष्प स्थान में है यजुर्वेद विहित कर्म ये कहा यजुर्वेद विहितम कर्म पुष्प स्थानीय पुष्पम विधि उच्चते पुष्प स्थान में हो कि तो वहां से पराग निकालना है ये कहा आगे ठीक है ता अमृता आप इत्य पूर्ववत व्याख्या ता अमृता आप वो यज्ञ में किया गया सोमाज्य आदि के जल है वही वहां रस बनना है उसका तो अमृत जल वही है कहा था कहा आगे दूसरे तीसरे में कहा तानी वा ये तान वो जो यजुर्वेद है यजुंशी एतम यजुर्वेदम अप्यतपम यजुर्वेद विहित कर्म को उन्होंने तपाया यजुर्वेद के मंत्रों ने तपाया इतव आदि सर्वम समानम पूर्व में जैसे व्याख्या की ऋग्वेद के विषय में वैसे यहां भी है हाँ। मधु एत आदि आदि दृश्य थे शुक्लम रूप मधु में भेद है रोहित रूप दिखाई पड़ता था और यहां पर शुक्ल रूप दिखाई पड़ता है कहा अच्छा। टीका में कहा यजुषाम आदित्य संबंधी मधु प्रत्यक्षम दर्शाई थी यजुर्वेद माने यजुर्वेद वेद कर्मों क्या यजुषाम आदित्य संबंधी मधु प्रत्यक्ष दर्शती यजुर्वेद से बना हुआ जो मधु है आदित्य संबंधी मधु प्रत्यक्ष दिखाते हैं एतल इत्यादि करके बोल दिया है अच्छा आगे तृतीय पर्याय है अत ये प्रत्यंजो रश्मय अश प्रतीच्यो मधुनाड्य सामान मधुकृत सामवेदैव पुष्पम् कामृता आपः अत एवस्य प्रत्यञ्चोरस्मयः ता प्रतीच्यो मधुनाड्यः सामान्येवमविकृतः सामवेदैव पुष्पम् कामृता आपः तानि वा एतानि सामानि एतम् सामवेदम् तस्यावितप्त यशस्तेज इंद्रिय वीर अन्नाद्यम रसो अजात तानि वाएतानि सामानी एतम सामवेदम अभ्यतपन् तस्यावितप्त यशस्तेज इंद्रिय वीर अन्नाद्यम रसो अजात तद्यक्षरत तद आदित्यम अभितो श्रयत तदवाये तद यदे तद आदित्य से कृष्णम रूपम तद तद आदित्यम अभितो श्रयत तदवाये तद यदे तद आदित्य से कृष्णम रूपम तद वो जो रस अभी मंत्र अर्थ है अथ अनंतर ये अश्य प्रत्यंचो रश्मय इस आदित्य का जो अश्य माने आदित्य से प्रत्यंचो पश्चिम दिशा संबंधी जो किरण है ताएव अश्य प्रतीचो मधुराढ़ यही किरणें जो है वही पश्चिम दिशा संबंधी मधु छिद्र है सामानी एवं मधुकृता सामवेद या मधुकर के स्थान में है सामवेद है मधुकर के स्थान में मधु बनाने वाले मधुबक्के के स्थान में सामवेद पुष्पम और सामवेद विहित कर्म जो उद्गान आदि कर्म होंगे सामवेद विहित वो पुष्प स्थान में है ता अमृताप वो यज्ञ आदि में हवन किया हुआ सोमादि है जल वो अमर अमृत आप वही है पुष्प से जो रस लेना है उन्होंने ये जल है तानी बा ये तानी सामानी वो जो सामवेद है मैंने सामवेद विहित कर्म में प्रयुक्त सामवेद इन्होंने क्या किया एतम सामवेदम अपितपन ये सामवेद विहित कर्म को तपाया अभिताप किया जब मधुमक्खी रस लाती है तो उसको तपा करके एक लोल बना करके लाल मान मधु दूसरे रंग तैयार कर देती है तपाती है अपने उसे इसी प्रकार इन्होंने तपाया तस्य अभितप्त से जब तपा तो रस तब क्या हुआ कहते हैं यशस तेज इंद्रियम वीरियम अन्नादिम रस ये सब रस यही रस उत्पन्न हो गए वहां तद व्यक्षर जो रस जो निकला वो रस विशेष रूप से निकल पड़ा वहां से तद आदित्यम अभी तो आश्रयत आदित्य के पार्श्व भाग में पश्चिम दिशा में जाकर के आश्रय ले लिया उस रस ने तद वही एतद तद तद वही प्रत्यक्ष है क्या है प्रसिद्ध है ये तद आदित्य से कृष्णम रूपम कृष्ण रूप आदित्य में जो काला रूप है वो प्रशास्त्र प्रसिद्ध है कृष्ण रूप है ये प्रसिद्ध है कहा टीका में कहते हैं तृतीय मधु कथा यदि तृतीय मधु का कथन करते हैं अतः भाष्य में ही बताया अतः यह से प्रत्यंजो रश्मि इत्यादि समान पूर्व पूर्व व्याख्या जैसी वैसी हम व्याख्या है तथा सामना मधु या सामवेद मधु के सामने है इत्यादि भी हो गया ये तद आदित्य कृष्णम रूपम ये विशेषता ये है कि यहाँ पर कृष्ण रूप है आदित्य में देखा टीका में कहते हैं ऋचाम यजुषाम च मधु यथा कथितम जैसे ऋग्वेद विहित कर्मों को मधु कहा था यजुर्वेद में संबंधी को मधु कहा था तथा ऋग्वेद में मधु कहा यजुर्वेद कहा तथा भी उसी प्रकार यहां भी समझ में सामवेद में तस्य शास्त्र प्रत्यक्षत्व दर्शेगी ये जो कृष्ण रूप आदित्य में प्रत्यक्ष नहीं होता शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष है हमारे इंद्रिय गोचर नहीं कृष्ण रूप रक्त रूप तो प्रत्यक्ष है शुक्ल रूप प्रत्यक्ष है किंतु कृष्ण रूप जो काला रूप होगा वह शास्त्र में प्रसिद्धि है तस्य शास्त्र प्रत्यक्ष एतद इत्यादि का एतद आदित्य से कृष्ण रूपम ये जो कृष्ण रूप है शास्त्रों में प्रसिद्धि है हमारी दृष्टिगोचर नहीं होता <clears throat> चतुर्थ परियाग कहते हैं अत ये अतएव अश्यौदंचो रश्मय ताएव उदीच्यो मधुनाड्यो अथर्वांगिरस मधुकृत इतिहास पुराणम पुष्पम तामृतापः तत एश्य उदञ्चोरश्मयः ता एव मधुनाड्यो अथर्वांगिस एव मधुकृत इतिहासपुराणम् पुष्प तामृता आप देवाएते अथर्वांगिस एक एतदितिहासपुराणम् अभ्यतपत् तस्यावितप्त यशस्तेज इंद्रिय वीरियम अन्नाद्यम रसोजात देवाएते अथर्वांगिरस एतदितिहास पुराणम अगतपन् तस्यावितप्त यशस्तेज इंद्रिय वीरियम अन्नाद्यम रसोजात तद्यक्षरत् तद आदित्यम अभितो श्रयत तदवाये तद यदे तद आदित्य से परम कृष्णम रूपम तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितो श्रयत तदवाये तद यदे तद आदित्य से परम कृष्णम रूपम अथ ये अश उदंचो रश्म अश आदित्य से ये उदंचो रश्म जो उत्तर तर्व के किरण है ताएव अश्य उदिच्यो मधुनाड्य वही किरण उत्तर दिशा संबंधी किरण जितने हैं वही माने उत्तर दिशा संबंधी मधुचित्र है मधुनाड़ी माने मधुचित्र जहां मधु भरना है अथर्वांग रस मधुकृता यहाँ दो वेद मधुकर के सामने है अथर्वा के द्वारा देखा गया और अंगिरा के द्वारा देखा गया जो वेद मंत्र है अथर्वा के द्वारा देखा अथर्वणा दृष्टम और अंगिरसा दृष्टम दो ऋषि हैं यहाँ अथर्वा के द्वारा देखा गया मंत्र और अंगिरा के द्वारा देखा गया जो वेद मंत्र है एवं मधुकर ये मधुकर के सामने यह है इतिहास पुराणम पुष्पम ये अथर्वा के द्वारा देखा गया ब्राह्मण भाग होगा और अंगिरा के द्वारा देखा गया ब्राह्मण भाग को यहाँ इतिहास और पुराण शब्द से लिया है अथवा प्रसिद्ध इतिहास पुराण भी ले सकते हैं भाष्य में दोनों अर्थ करेंगे दो दो अर्थ कर देंगे इतिहास पुराण का या तो ब्राह्मण भाग है उसी उसी वेद का ब्राह्मण भाग है इतिहास पुराण शब्द से लेना है अथवा प्रसिद्ध जो इतिहास पुराण है वो भी ले सकते हैं ठीक है <clears throat> ये पुष्प के स्थान में है ता अमृता आप वो यज्ञ में डाले गए जो सोमादि रस है वो अमृत जल वही है जिसे आगे मधु बनना है <clears throat> तेवा ये अथर्वांग अथर्वांगी रस ये अथर्वा के देखा क्या मंत्र और अंगिरा ऋषि के द्वारा देखा गया जो मंत्र है ये मंत्रों ने क्या किया एतद इतिहास पुराणम है ये जो इतिहास पुराण है ब्राह्मण भाग उसी का ब्राह्मण भाग है अथवा प्रसिद्ध इतिहास पुराण है उसको तपाया तस्य तप तस्य जब तप गया वो इतिहास पुराण तपा अभिताप प्राप्त हुआ तो यशस तेज इंद्रियम वीरियम अन्नातिम सौ जाएगा यही सारी लोक विस्तृति है शरीर संबंधी तेज है इंद्रिय में सामर्थ्य है शरीर में सामर्थ्य है और खाने योग्य अन्न आदि रस उत्पन्न हुआ ये कहा तद व्यक्षर वो जो रस निकला था वो निकल पड़ा तद आदित्यम तो आश्रय तो जाकर के उत्तर भाग में जाके आदित्य का आश्रय लिया उसने तदवई एतद यदेतद आदित्य से परम कृष्ण रूप उत्तर भाग में जो आश्रय लिया कौन सा रस कैसा दिखाई पड़ता है कहते हैं अत्यंत अतिशय कृष्ण रूप अतिशय काला रूप शास्त्र प्रसिद्ध है भी हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता ऐसा दिखाया टीका में कहते हैं चतुर्थम मधु निर्देश चतुर्थ मधु के निर्देश करते हैं अथ इत्यादि भाषण का अतः ये अश्य उदंचो रश्मय इत्यादि समान में तो समान है उत्तर दिशा की तरफ गई हुई जो रश्मियां हैं वो मधुनाड़ी हैं इत्यादि विशेषता यही है अथर्वांगी रसो जो अथर्वांगी रस एवं मधुकृत बोला हुआ है उसका अर्थ करते हैं अथर्वणा अंगिरसा च दृष्टा मंत्रा अथवा अथर्वांगिरस दो ऋषि है यहाँ एक अथर्वा ऋषि अथर्वन ऋषि है अंगिरा ऋषि है इन दोनों ऋषियों के द्वारा देखा गया जो मंत्र है अथर्वणा अंगिरसा च दृष्टा मंत्रा अथर्वा अथर्वा ऋषि के द्वारा और अंगिरस अंगिरा ऋषि के द्वारा देखा गया जो मंत्र है वो मंत्र अथर्वांगिरस कर्मणि प्रयुक्ता मधिकृता और अथर्वांगिरस उसी को कहा कर्म में प्रयुक्त जो मंत्र है अथवा गिरस कर्म में प्रयुक्त हुआ मधु का कार्य इतिहास पुराण पुष्पम कहा इतिहास पुराण या पुष्प है कोई ब्राह्मण भाग ऐसा अर्थ करेंगे अथवा प्रसिद्ध इतिहास पुराण लेंगे तयोश्च इति इतिहास तयोश्च इति इतिहास पुराण और अश्वमेधे पारिप्रवासु रात्रिशु कर्मांगत्व विनियोग सिद्ध कहते हैं देखो जब अश्वमेधादि यज्ञ करते हैं उसमें यज्ञ करते करते व्यक्ति थक जाता है आलस्य आने की संभावना है इसलिए क्या करते हैं तयोश्च इतिहास पुराण की कथा सुनाते हैं वहां बीच बीच में आलस्य हटाने के लिए जानविता हटाने के लिए ऐसा चर्चा है माने तयोश्च माने इतिहास पुराण तयो हो इतिहास पुराण और जो इतिहास पुराण है अश्वमेध यज्ञ जब हुआ होगा अश्वमेधादि यज्ञ में पारिप्लवासु रात्रिशु पारिप्लव नाम की रात्रियां हैं उस रात्रियों में कर्मांगत्व ने विधि होगा कर्म के अंग रूप से यज्ञादि दे के हो रहा है कर्म उसमें उसके अंग रूप से ये इतिहास पुराण के उपयोग होता है वहां मान जामिदा आलस्य हटाने के लिए बीच बीच में कुछ कहानियां बोला जाता है इतिहास पुराणों का उपयोग वहां है कहा मधु ये तद आदित्य परम कृष्णम रूपम अतिशय में कृष्णम करता ये जो मधु भाई कैसा है आदित्य में परम कृष्ण रूप है अतिशय काला रूप है ये मधु इत्यादि टीका में कहते किम तत् कर्म इत्या कर्म क्या है मैं अंगिरा के द्वारा देखा गया मंत्र और अथरवा के द्वारा देखा गया मंत्र ये तो होंगे मधुकर के स्थान में किंतु कर्म क्या है प्रश्न आया तो कहा इतिहास पुराण पुष्पम तो पुष्प यही है इतिहास पुराण इत्यादि कहा अच्छा तद ही अथर्वणा नाम आंगिरसा नाम च प्रसिद्धम ब्राह्मणम वो इतिहास पुराण करते हैं टीकाकार कहते हैं अथर्वा अथर्वा के यहाँ और अंगिरसों के यहाँ प्रसिद्ध ब्राह्मण भाग है इतिहास पुराण करता वो वेद में ही ब्राह्मण भाग है वो इतिहास पुराण शब्द करता ब्राह्मणम तद विहितम कर्म पुष्प स्थानीय हो जो ब्राह्मण विहित कर्म होगा अंगिराज अथर्वेद में जो ब्राह्मण विहित कर्म आएगा तो उसके उस कर्म को कहा पुष्प स्थान में कहा यदा प्रसिद्ध इतिहास पुराण रूपादान तदा भी यदा प्रसिद्धि इतिहास पुराण को लेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है कहते हैं यदा प्रसिद्ध प्रसिद्धयोर इतिहास पुराण रूपादानम प्रसिद्ध जो इतिहास पुराण है महाभारत आदि इतिहास है भागवत आदि पुराण है इनको ग्रहण करने पर भी भी ना दूषण ग्रहण करो तब भी कोई दोष नहीं जो पहले वाले जो थे उन्हीं मंत्र भाग भी थे और ब्राह्मण भाग करके उन्हीं में प्रयोग किया गया था यहां भी वही लेना चाहिए इतिहास पुराण से ब्राह्मण भाग को लेना मुख्य बात अथवा प्रसिद्ध इतिहास पुराण लो तब भी कहा आपत्ति नहीं ये कहा तयोश्च ये इतिहास पुराण जो प्रसिद्ध वाला है लोक में इतिहास पुराण इसका भी वहां प्रयोग होता है अश्वेध यज्ञादि कर्मों में कहा तयोश्चित इतिहास पुराण अश्वमेधे पारी प्रवासु रात्रिशु कर्मांग विनियोग कहा इतिहास पुराण की कहानी रात्रि में भी एक करना है दिन में एक चल रहा है निद्रा आ सकती है आलस्य आ सकता है उसको परिहार करने के लिए बीच बीच में कहानी पुराणों की कहानी इतिहास की कहानियां सुना, सुनाना होता है <clears throat> ऐसा आया है ये इतिहास पुराण उपयोग होता है वैदिक कर्म में कहा ठीक है कहते हैं अश्वमेध कर्म जो अश्वमेध कर्म हो रहा है उसमें जामिता परिहारार्थम आलस्य हटाने के लिए कर्म करते करते आलस्य आ सकता है जामिता मैंने आलस्य जामिता परिहारार्थम जामिता मैंने आलस्य हटाने के लिए पारिप्लवो नाना विध उपाख्यान पारिप्लव ने अनेक प्रकार की कहानियां जिसको पारिप्लव शब्द से कहा गया नाना नाना विध उपाख्यान बोला नाना प्रकार की कहानी ये कहानी वो कहानी बीच बीच में कहानी कहानी आने से रोचता आ जाती है निद्रा भाग जाती है आलस्य हट जाता है कर्म तो हो रहा है वहां अस्मेत कर्म वैदिक कर्म है अश्वेत कर्म हो रहा है अश्वेत कर्मणी जामिता परिहाराथम आवश्य हटाने के लिए पारिप्लव नानाविध उपाख्यान पारिप्लव शब्द अर्थात नानाविध उपाख्यान समुदाय नाना प्रकार की कहानियों का समुदाय है वो ये सब यत्र जहां होता है जिस कर्म में होता है तब पारिप्लवम आचक्षित विधि वसात प्रयोजित पूर्व तंत्र में मीमांसा पूर्व मीमांसा में पारिप्लवम आचक्षित ऐसा पारिप्लव का कथन करे ऐसा माने वेद मंत्र दिया हुआ है कहा प्रयोजित प्रयोग होता है तासु रात्रिशु उन रात्रि में पारिप्लव नाम की रात्रि में तस्व कर्म अंगत्व उसी कर्म का ही अंग रूप से वो अश्वेध कर्म का ही अंग रूप से ये भी कहा मनोर्वैवसतो राजा इत्यादि इतम प्रकार विनियोग ये पारिप्लव कहानी आया मनुर्भव सदो राजा इतव इस प्रकार के विनियोग उपयोग पूर्व तंत्र पूर्व तंत्र पूर्व मीमांसा में कर्मकांड में पारिप्लवादि पारिप्लवार्थाधिकरण नहीं सिद्धत्वा पारिप्लवादि पारिप्लवार्थाधिकरण एक बनाया है पूर्व मीमांसा में जयगिरी जी ने उसके द्वारा सिद्ध होने से तत्संबंधी कर्म पुष्पम इत्यर्थ वो जो पारिप्लव संबंधी कर्म यज्ञ संबंधी कर्म अश्वमेध कर्म संबंधी पुष्प है ये कहा अस्यापि मधुना शास्त्र प्रत्यक्षण ये हमारे दृष्टि से प्रत्यक्ष अतिशय कृष्ण रूप नहीं दिखाई पड़ता हाँ, ये मधु जो उत्तर दिशा संबंधी मधु है ये मधु शास्त्र प्रत्यक्ष है परम कृष्ण कहा था ना परम कृष्णम रूपम कहा था अतिशय काला है वो शास्त्र में प्रसिद्ध है हमारे चक्षु गोचर नहीं होता शास्त्र प्रसिद्ध है कहा अच्छा आगे मंत्र है अथ श्योर्द्वार स्मय ताएव मधुनाड्यो भूया आदेश मधुकृतो ब्रह्म पुष्प सामृता आप अतए अश्योर्ध्वार स्मय ताएव मधुनाड्यो गुह्यायमादेशा मधुकृतो ब्रह्म पुष्प तामृता आपह तेवाएते गुह्यादेश एक ब्रह्म अव्यतपन तस्तप्त यशस्तेज इंद्रिय वीर मन्नाद्यम प्रसोजात देवायते गुह्यादेश ब्रह्माभ्यतपन तस्यावितप्त यशस्तेज इंद्रिय वीर अन्नाद्यम रसोजात तद्यक्षरत तद आदित्यम अभितो आश्रयत तद्वा तदेदे मध्ये क्षोभते तद्यक्षरत तद आदित्यम अभितो अश्रयत तदवा ये तद यदे तद आदित्य से मध्य क्षोभते इव अतः ये अश्व ऊर्ध्वा रश्मय ये जो ऊपर की तरफ गई हुई रश्मियां हैं सूर्य की किरण है चार दिशा में हो गए ऊपर की तरफ गई हुई रश्मियां हैं ताएव अश्व ऊर्ध्वा मधुराड ऊपर की तरफ की मधुराणी यही है इसके मधुचित्र यही है गुह्या एवं आदेशामधिकृत जो गुहिया गोपनीय उपदेश पूर्व में हुआ था लोक द्वारा अपावारण आदि आया था हाँ, द्वितीय अध्याय के चौबीसवें खंड में चतुर्थ मंत्र में आया था द्वितीय अध्याय चौबीस खंड में लोक द्वार अपावरण पश्चिम तो राज्य आया हुम इत्यादि मंत्र आया था वो गुहिया आदेश है गोपनीय आदेश है कोई मधुकर है यहाँ गुहिया एवं आदेश अपधिकृत द्वितीय अध्याय चौबीसवें खंड चतुर्थ मंत्र में आया था गुई आदेश लोक द्वारम उपावारम पश्चिम त्वावयम राज्याय हम इत्यादि आया था ये मधुकर के स्थान में है यहाँ ब्रह्मयो पुष्पम ब्रह्म ही पुष्प ब्रह्म माने यहाँ शब्दाधिकार चल रहा है ऋग्वेद आदि शब्द चल रहे हैं ऋग्वेद माने शब्द होते हैं शब्दाधिकार चलने से ब्रह्म ने ओंकार प्रणव यहाँ ब्रह्म शब्द कहते तो ओंकार है शब्दाधिकार यहाँ चेतन ब्रह्म नहीं ओंकार है प्रणव पुष्पम वो पुष्प स्थान में है तारा अमृता आप वो यज्ञ आदि में प्रयुक्त उपयुक्त हुआ जो सोमादि है वो जल है <clears throat> तेवा ये थे गुहिया आदेश जो गुहिया आदेश है लोक द्वारा मपावार पश्चिम त्वापयम इत्यादि जो मंत्र में कहा गया था जो गुहिया आदेश ये तद ब्रह्म बताए इस प्राण रूपी ब्रह्म को तपाया तपाया ओम इत्य का अक्षरम ब्रह्म है ना प्राणों को ब्रह्म शब्द से कहा है गीता ऐसा होता है तो ये तद ब्रह्म ये ओंकार को अद्यतन तपाया तस् अभी तब तस् जो प्राण रूपी ब्रह्म तब गया तब यशस तेज इंद्रियम वीरियम अन्नादिम यही यही निकले हाँ। तद व्यक्षर जो जस निकला था निकल पड़ा वहां से तद आदित्यम अभी तो अश्रयत आदित्य के ऊपर के भाग में जाकर के आश्रय लिया उसने तद वही एतद यदि तद आदित्य से मध्य क्षोभ ये वो रूप क्या है जो आदित्य में आश्रय लिया हुआ रूप कहते हैं वही प्रसिद्ध है यदि तथा आदित्य से मध्य आदित्य के बीच में संचलित होता है क्षोभित होता है ऐसा दिखाई पड़ता है तो रूप है कहा ठीक है कहते हैं पंचम मधु दर्शय ये पांचवा मधु है पंचम मधु है अथ भाष में कहा अथ ये अश्य ऊर्ध्वा रश्म इत्यादि पूर्व तो समान है ऊपर की तरफ गई रश्म ऊपर की तरफ मधुनाड़ी है ये कहा किंतु विशेष क्या है गुह्या गुह्या एवं आदेश मधुकृत का मधुकर यहां अलग है ऋग्वेद आदि नहीं है गोपनीय आदेश यह आदेश क्या है तो कहा गुह्या गोप्या एवं आदेश लोकद्वारी आदि विधायक लोकद्वारम अपावारण पश्चिम त्वापयम ऐसा जो पढ़ा था आपने द्वितीय अध्याय चौबीसवें खंड के चतुर्थ मंत्र में पढ़ा था तो वही आदेश है जो साम हो मंत्र उत्थान इत्यादि आया था तीनों लोग बसी करने के लिए वशीभूत करने के लिए वसु आदि के अधिकार में है रुद्र वसु रुद्र आदित्य के अधिकार में लोग हैं वो लोग को यजमान कैसे प्राप्त करेगा कर्म करेगा यजमान उनके अधिकार है तो ऐसा शाम दान करने से लोक द्वारा गोपाल वर्ण आदि शाम दान करने से और होम करने से मंत्र के द्वारा उत्थान करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं वो अपने अधिकार का क्षेत्र हमें दे देते हैं यजमान को प्रदत्त कर देते हैं ये कहा था यही है या विशेष ये पंचम मधु में भूया मैंने गोप्या रहस्य एवं लोक लोकद्वारी आदि लोक द्वारा उपावरण इत्यादि विधान किया था जो उपासनानी च कर्मांग विषयाणी और उपासना भी बताया था वहां कर्मांग को विषय करने वाली उपासना ये पदकृत है <clears throat> मंत्र पढ़ना है लोक द्वारा प्रार्थना और उपासना भी है कर्म के अंगभूत उपासना कर्मांग उपासना ये मधुकर स्थान में है ब्रह्म पुष्पम कहा है ब्रह्म ही पुष्प है कहा ब्रह्म माने क्या यहाँ कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म ही शब्द अधिकार या शब्द का ऋग्वेद यजुर्वेद वेद अथर्वेद वेद आए हैं वेद माने शब्द राशि को वेद बोलते हैं पुस्तक वेद नहीं पुस्तक तो गौण है शब्द राशि है वो तो शब्दाधिकार प्रणवाख्यम पुष्पम या ब्रह्म शब्द कहते प्रणव है जो शब्दाधिकार है इसलिए ओम ऐसा शब्द जो है वो पुष्प स्थान में है समान माने बाध्य तो समान है कहा आगे विशेष क्या है वो जो रस निकला वो रस कहा जाता है तो आदित्य के मध्य में जैसे क्षोभित आदित्य में बैठा है हमें कैसे दिखाई पड़ता है संचलित होता हुआ दिखाई पड़ता है वही कहा मधु ये तद आदित्य से मध्य क्षोभते ये जो मधु है पंचम मधु आदित्य के मध्य में बीच में क्षोभते युवा समाहित दृष्टि थे सबके द्वारा नहीं जो समाहित एकाग्र दृष्टि वाला व्यक्ति है उसके द्वारा दिखाई पड़ता है समाहित दृष्टि वाले से दिखाई देता है वो क्षोभते संचलित कहा छेवते ही ने संचलित युवा कहा ठीक है लोकद्वारी आदि विधायक कहा भाष्य में गुया आदेश तो लोकद्वार आदि क्या है लोकद्वार पश्य मतवा भजम इत्यादि जो द्वितीय अध्याय में चौबीसवें खंड में चतुर्थ मंत्र आदि में था वही है ब्रह्म शब्दार्थ में आया ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या लेना ब्रह्म माने परमात्मा को लेना है सगुण को लेना है निर्गुण को लेना माया को लेना क्या लेना तो ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हैं शब्द अधिकार है शब्द का अधिकार चल रहा है यहाँ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद सब शब्द है वो शब्दाधिकार में आने से ब्रह्म या चेतन ब्रह्म नहीं ओंकार को लेना ये कहा प्रणव को लेना ये कहा था भाष्य में शब्दाधिकारात प्रणवाख्यम पुष्पम ओम हाँ। ब्रह्म शब्द का अर्थ प्रणव है ऋगादि शब्दान प्रकृतत्वाद इत्यर्थ शब्दाधिकार ऋगादि शब्दों का प्रकरण चल रहा है यहाँ ऋग्वेद यजुर्वेद आदि शब्द है वो उसका प्रकरण चलने से यहाँ भी शब्द ही लेना पड़ेगा ब्रह्म शब्द का अर्थ लेना पड़ेगा प्रणव ओंकार ये कहा ठीक है अभी कहते हैं आगे अश्यापि मधुना शास्त्र प्रसाद था ये मधु जो पंचम मधु है शास्त्र के दृष्टि से ही प्रत्यक्ष है हमें तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है क्षोभते ही रूप नहीं दिखाई पड़ता अश्यापि मधुना शास्त्र प्रसाद प्रत्यक्षता महा शास्त्र के बल से समाहित दृष्टि का ना समाहित दृष्टि वाले के प्रत्यक्ष होता है शास्त्र के बल से समाहित दृष्टि का अर्थ कर दिया शास्त्रार्थ है समाहित चित्त जिसके शास्त्र के विषय में समाहित चित्त वाला व्यक्ति है वही व्यक्ति के द्वारा दिखाई पड़ता है आगे मंत्र है देवा ये ते रसानाम रसः वेदा ही रस तेषामेते रस तानि अमृता अमृता वेदा ही अमृता तेषामेतानि अमृता देवा एते रस वेदा ही रस तेषामेते रस तानि वा एतानि अमृतानि वेदा ही अमृता तेषाम् एतानि अमृतानि तेवा रसाना ये जो रस जो पांच प्रकार के रस बता दिया गया रक्त रूप शुक्ल रूप कृष्ण रूप परम कृष्ण रूप और क्षोभते पांच रूप जो बताए रस पांच तरह का रूप आदि है तेवा ते ये जो ऊपर में दिखाई पड़ते हैं जो रस रसानाम रसा रसों का भी रस है सारों का भी सार है ये वेदा ही रसा रसानाम रसा में ष्टम तक कौन है वेद वेदा ही रसा वेद ही रस है तेषाम एते रसा उन वेदों का भी सार है ये रस देखा ये रसों का रस है माने वेद रस है वो रस वेद रूपी रस का भी रस है ये जो पांच रूप बताया आदि रस है सार है तानी व अमृता अमृताना मृदानी यही जो रस है पांच प्रकार के यही एतानी अमृताना अमृत अमृतों का भी अमृत है ये अमृत का भी अमृत है क्या तो कहते हैं कौन है अमृत वेदा ही अमृता जो वेद है अमृत है तेसाम एतानी उन वेदों का भी अमृत है वेदों के भी वेद है अमृत है ऐसा बताया टीका हमें कहते हैं पंच मधुनी व्याख्या है पांच प्रकार पांच मधु की व्याख्या कर दी पांच प्रकार के मधु की व्याख्या कर दी रोहित रूप शुक्ल रूप कृष्ण रूप परम कृष्ण रूप शोभते रूप पंच मधुनी व्याख्या या पांच प्रकार के मधुओं की व्याख्या कर तेसाम सर्वेशम सिद्ध सिद्धिर्थम ये सब के सब उपास्य है ये मधु ध्येयत्व माने उपास्यत्व सिद्धि के लिए स्तुतिम प्रवृत्ति उनकी प्र... माने जिसकी उपासना करनी है उनकी स्तुति करते हैं प्रशंसा करते अरे ये तो रसों का भी रस है अमृतों का भी अमृत है ऐसा बोलते हैं ये कहा पंच मधुनी व्याख्या है पांच प्रकार के मधु की व्याख्या हो गई व्याख्या करके तेषाम रसानाम सर्वेशम ध्येयत्व सिद्धार्थम सभी के लिए ध्येय है वो तेषाम सर्वेशा ध्येयत्म वो सबके सब ध्येय है वाष्य है ये मधु इस, इसलिए तुतिम प्रभु वो उपासना बतलाने के लिए पहले स्तुति करते हैं वो रसों का तेवायते इत्यादि भाषा में कहा तेवायते यथोक्ता तेवायते यथोक्ता पूर्वम जो कथित कैसे रोहित आदि रूप विशेष रोहित आदि नाम दिया था रोहित शुक्ल कृष्ण परम कृष्ण शिवते इत्यादि रूप दिया नाम रसा ये रसों का भी रस है रोहित आदि रूप केशाम में किन रसों का रस है ये रसों का भी रस माने ष्ट्यंत पद रस कौन है वो रस किन रसों का रस है आया तो कहा वेद ही अस्मात लोक निस्पंदत्वाद सार वेद ही देखो वेद सार है रस माने सार है वेद क्यों हाँ, प्रजापति ने प्रजापति लोकान अब तपत वाक्य आपने पढ़ा तेईसवें खंड में पढ़ा था <clears throat> इसी सांदोग में तो तीनों लोगों को प्रजापति ने तपाया एक बार सार ढूंढने के लिए क्या निकला त्रय विद्या प्राश्रवत तीन विद्या तीन वेद निकले थे इसमें वेद सार है लोक का सार है फिर तीनों विद्याओं को तपाया उन्होंने तो क्या निकला भूर भूवस्व व्याहृति तीन निकली चार रूप में फिर उनको तपाया फिर क्या निकला ओंकार निकला ये कहा था कि ये कहना चाहते हैं वेदाई अस्मात लोक निश्चंदत्वा सारा लोक का सारांश निकला हुआ है लोक का निचोड़ निकला है तीनों लोगों को तपाने पर ये निकला है मान ये कहा था द्वितीय अध्याय के तेईसवें खंड के द्वितीय मंत्र में था प्रजापति लोकान अभ्यतपत इत्यादि वाक्य आया था तो वेदा ही अस्मात लोक निश्चंदत्वाद सारा लोक के द्वारा निकले हैं वो सार रूप में जैसे दूध से मक्खन निकलता है उसी प्रकार लोक को तपाने पर वेद निकले थे सार है रस मन सार है यदि रसा सार है इसलिए रस है वो तेसाम रसाराम जो <clears throat> तो वेद माने जो सार बने हुए हैं उस सार का भी कर्म भावम आपन्नानम जो कर्म भाव में प्राप्त हुए वेद मंत्र है उनका अभी एते रोहितादि विशेषारसा अत्यंत सारभूत कर्म करने पर रोहितादि रूप की प्राप्ति होनी है रोहितादि विशेषादि रोहितादि रूप बताया यहाँ आदित्य में एक असा मैंने अत्यंत सारभूत वेदों का भी कर्म भाव प्राप्त वेदों का भी ये रस है सार है तथा उसी प्रकार अमृता नाम अमृतानी उसी प्रकार जैसे रसों का रस है सार का भी सार है इसी प्रकार अमृतों का भी अमृत है ये रस आदि कहा रस <clears throat> वेदा ही अमृत वेद ही अमृत है नित्यत्वाद वेद नित्य है इसलिए अमृत है अच्छा। तेसाम एतानी रोहितादिनी रूपाणी अमृतानी उन वेदों का भी जो नित्य वेद है उनका भी ये रोहितादि जो पांच रूप बताए गए ये अमृत है रसानाम रसा इत्यादि कर्म स्थिति रेशा जो रसानाम रसा अमृतानाम अमृतानी जो कहा ये कर्म की प्रशंसा के लिए है ये वाक्य ठीक है हम कहते हैं तस्मात अच्छा अच्छा ठीक भाष्य बाकी है यश एवं विश्रितानी अमृतानी फलम इत्यता यश न जिस कर्म का एवं विषितानी अमृतानी फलानी जिस कर्म का ऐसा होगा यश कर्म कर्मणा जिस कर्म का एवं विषितानी अमृतानी फलानी ये इस प्रकार के विशिष्ट अमृत फल होते हैं टीका है कहते हैं तस्मात तेसाम यदि संबंध ऐसा कहते हैं माने यस्मात <clears throat> लोक निश्चंदत्वात सारा यदि रसहा तस्मात तेसाम ऐसा लगा ये तेसाम के पहले एक तस्मात पर जोड़ देना ये बोला भाष्य में तेसाम के पूर्व में तस्मात जोड़ देंगे इसमात से भाष्य शुरू हुआ था इसमात लोक निश्चंदत्वात सारा बेरा सारा हाँ, रसा तस्मात तेसाम ऐसे जोड़ना कहा कर्मणि विनियुक्त तदंगत्वात तदापति कर्म में विनियुक्त जो मंत्र है ना इसलिए क्या हो कर्म भाव को प्राप्त हो गए ये कहते हैं कर्मणि विनियुक्त कर्म में उपयुक्त हो जाने से हो जाने तदंगत्वाद कर्म के अंग हो गए वेद जो मंत्र कर्म में उपयोग होते हैं वो कर्म का अंग बन गए तदभावापत्ति उस भाव में प्राप्त हो गए वेद <clears throat> कर्मापन्ना कहा था वेदा कार्यत्व भी प्रयत्न पूर्वक भावात नित्यत्व यद्यपि वेद देखो कार्य है वृद्धारण में आया है वेद के बारे में आया अश महतो भूत निश्चितुम एतद यद ऋग्वेद हो यजुर्वेद सामवेद अथर्वा इत्यादि आया एक परमात्मा से इसी परमात्मा से ऋग्वेद निकला सामवेद निकला कार्य पता है वेद को देवदार्मिक में बात वेदान कार्यत्व भी वेद कार्य होने पर भी क्योंकि परमात्मा से निकले हैं वृद्धारणिक द्वितीय अध्याय में चतुर्थ ब्राह्मण में ही बात अस्य महत्वभूत निश्चित यदि तत् यद ऋग्वेद इत्यादि मंत्र है तो वेदानम कार्य तो वेद इस परमात्मा से निकला है जैसे मिट्टी से घट निकलता है कार्य होता है तंतु से वस्त्र निकलता है तो कार्य होता है उसी प्रकार परमात्मा से निकला है ये वेद निकला है इसमें कार्य है कार्य होगा तो अनित्य होना चाहिए फिर हम नित्य कैसे बोल दिया भाष्यकार ने वेदा ही अमृता नित्यत्वा वेद अमृत है क्यों नित्य होने से भाष्यकार नित्य बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं तो टीकाकार कहते हैं वेदान कार्य त्यति कार्य मान्य पर विवेक को तो मंत्र है अश्य महत्वभूत निश्चितम यदेत इत्यादि मंत्र है अच्छा कार्य मानने पर भी प्रयत्न पूर्वकत्वाभाग परमात्मा को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा वेद उच्चारण करने के एकाएक हो गया उच्चारण हो गया एकाएक उच्चारण हो गया कोई प्रयत्न नहीं ऐसा बोलू ऐसा सोचना भी नहीं पड़ा कुछ ने एकाएक निकला वेदाराम कार्य प्रयत्न प्रयत्न अभाव नित्यत्व प्रयत्न पूर्वक न होने से नित्य माना गया है उसको या मधुनी स्तुति सा कर्म स्तुति जो मधु की स्तुति की गई ना वो कर्म की स्तुति है मधुओं की जो स्तुति की गई यहां वो कर्म की स्तुति है माने अश्वेद यज्ञ आदि के कर्म की स्तुति है इत्या रसानाम रसा इत्यादि कर्म स्तुति रेसा कहा ये रसानाम रसा कहा हो रहे तो यहां मधु की स्तुति लग रही थी आपको किंतु वो कर्म की स्तुति है ये कहा कर्म स्तुति अभिनय थी कर्म की स्तुति के ही अभिनय दिखाते हैं ऐसा यश एवं इत्यादि कहा यश एवं विशिष्टानी अमृतानी फलम जिस कर्म का इस प्रकार विशिष्ट अमृत फल है होते हैं कहा रसानाम रसा अमृतानाम अमृतानी इतम विशिष्टानी ये विशिष्ट फल है रसों का भी रस है ये और अमृत का भी अमृत है ये इत्यादि इष्टिदानी अमृतानी यश्य फलम कर्म यश्य कर्म ना फलम जिस कर्म का ऐसा फल है रसों का भी रस फल है अमृतों का भी अमृत फल है जिस कर्म का तस्य महाभाग्यम उस कर्म की महाभाग्य किम वक्तव्य क्या कहना क्या अहोभाग्य है उस कर्म का जिसका ऐसा फल है रसों का भी रस अमृत का भी अमृत जिसका फल है जिस कर्म का तस्य कर्म ना महाभाग्यम किम वक्तव्य उसके महाभाग्य की क्या कथन करें स्तुतय इति स्तुतय कर्म इत्यर्थ स्तूयते कर्म इस प्रकार कर्म की स्तुति होती है प्रशंसा होती है जिस कर्म का <clears throat> विशिष्ट अमृत फल है जिसका ऐसा फल है रसों का भी रस सार का भी सार अमृत का भी अमृत फल है उस कर्म का महाभाग्य कैसे भाग्यवान कर्म है क्या कहना उसका ये कहा आगे समय हो गया ये रखते हैं फिर करेंगे आगे ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुस्रोत्रमथोपलन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो करणमस्त्व निराकरणमेस्तु तदात्मनिरते यौपनिषत्सु मयि सन्तु मयि सन्तु ओ